पहला प्रश्न आप आज मौजूद हैं तो भी मनुष्य नीचे और नीचे की ओर जा रहा है जबकि बुद्धों के आगमन पर मनुष्य का कोई शिखर छूने लगती हजारों आंखें आपकी ओर लगी हैं कि शायद आपके द्वारा फिर नव जागरण होगा और धर्म का जगत निर्मित हो गया कृपया बताएं कि यह विस्फोट कब और कैसे होगा क्योंकि बदलना तो दूर उल्टे लोग आपका ही विरोध कर रहे हैं पहली बात मनुष्यता सदा ऐसी की ऐसी ही रही है कुछ विरले मनुष्य बदलते मनुष्यता जरा भी नहीं बदलती बाहर की स्थितियां बदलती हैं व्यवस्थाएं बदलती हैं भीतर मनुष्य वैसा का ही वैसा रहता है तो पहली तो इस भ्रांति को छोड़ दो कि आज का मनुष्य पतित हो गया है सदा का मनुष्य ऐसा ही था बुद्ध के समय में भी लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं बुद्ध से कि आज का मनुष्य पतित हो गया है आप कुछ करें लाउसू से भी ऐसे ही प्रश्न कंफ्यूशियस से भी ऐसे ही प्रश्न पुराने से पुराना शास्त्र खोज ले पुराने से पुराना शास्त्र यही रोना रोता है कि मनुष्य पतित हो गया है बेबीलोन में छह हजार वर्ष पुरानी एक ईंट मिली है जिसपे शिलालेख है उस शिलालेख में यही लिखा है कि आज के मनुष्य को क्या हो गया पतित हो गया छह हजार साल पहले भी यही बात है हर समय के आदमी ने ऐसा सोचा है कि आज का मनुष्य पतित हो गया इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है अतीत के मनुष्यों का तो तुम्हें पता नहीं उनके संबंध में तो तुम कुछ भी नहीं जानते बुद्ध के संबंध में तो तुम कुछ जानते हो लेकिन बुद्ध किन मनुष्यों के बीच जी रहे थे उनके संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानते हो बुद्ध के संबंध में तो शास्त्र उनकी महिमा के गीत है उनकी महिमा के गीत को तुम उस समय की मनुष्यता की महिमा मत समझ लेना अगर सच में ही बुद्ध के समय के लोग ऊंचे होते तो बुद्ध की कौन फिक्र करता है अंधेरे काले बादलों में ही बिजली चमकती है बुद्ध इतने बड़े होकर दिखाई पड़े ये छोटे मनुष्यों के कारण ही संभव था अगर बुद्ध जैसे ही मनुष्य होते बड़ी संख्या में तो बुद्ध को कौन पूछता कौन ख्याल करता सोचो कोहनूर हीरा कीमती है क्योंकि अकेला है अगर गांव गली कूचे राह के किनारे नदी के तटों पर कोहनूरों के ढेर लगे होते तो कोहनूर को कौन पूछता है राम की हम याद करते हैं क्योंकि जमाना राम जैसा नहीं था कृष्ण की हम याद करते हैं क्योंकि जमाना कृष्ण जैसा नहीं था जमाना तो रावण जैसा रहा होगा और जमाना तो कंस जैसा रहा होगा आदमी सदा से ऐसा ही है लेकिन अतीत के संबंध में एक धारणा बन जाती है कि अतीत सुंदर था क्योंकि अतीत के सुंदरतम लोगों की खबरें तुम तक आती अतीत के सुंदरतम गीत गूंजते हुए सदियों में तुम्हारे पास आते बाजार की भीड़ भाड़ छीना झपटी तो भूल जाती सुंदरतम बचता है फूल बचते कांटे तो भूल जाते और आज जो तुम्हारे निकट लोग हैं उनमें तुम्हें कांटे दिखाई पड़ते हैं कांटे ही कांटे सब तरफ दिखाई पड़ते हैं समसामयिक बुद्ध पुरुष दिखाई भी नहीं पड़ता है क्योंकि इतने कांटों की भीड़ में भरोसा भी करना मुश्किल है कि गुलाब का फूल खिल सकता है तो जब कोई बुद्ध पुरुष मौजूद होता है उस पर भरोसा नहीं आता क्योंकि बुद्ध पुरुष तो एक होता है और अबुद्ध पुरुष अरबों खरबों होते हैं भरोसा आए भी कैसे लेकिन जब समय बीत जाता है तो उस एक की तो याद गूंजती रहती और उन अनेकों का विस्मरण हो जाता तब तुम्हारे सब मूल्यांकन अस्त व्यस्त हो जाते आदमी सदा से ऐसा ही रहा है न तो अतीत के समय का आदमी श्रेष्ठ था न तुम निकृष्ट हो न अतीत के समय का आदमी निकृष्ट था न तुम श्रेष्ठ हो आदमी आदमी जैसा है चीजों में फर्क पड़ गए ये बात निश्चित है कि अतीत का आदमी फीएट कार की आकांक्षा नहीं करता था क्योंकि फीएट कार नहीं थी इससे तुम ये मत सोच लेना कि आज का आदमी बड़ा पतित हो गया देखो फीएट कार की आकांक्षा करता है अतीत का आदमी एक शानदार घोड़े की आकांक्षा करता था एक अच्छी बग्घी की आकांक्षा करता था रथ की आकांक्षा करता था आकांक्षा वही है बग्घी की जगह फीएट आ गई आकांक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ा है अतीत का आदमी ऐसा ही लोभी था ऐसा ही कामी था ऐसा ही क्रोधी था नहीं तो बुद्ध पुरुष पागल है जो समझाएं कि क्रोध मत करो वासना में मत पड़ो जो लोगों को समझाएं लोभ छोड़ो तुम्हारे सारे शास्त्र शिक्षा क्या देते शिक्षा किसको दी जाती अगर लोग अलोभी थे तो बुद्ध पागल थे जो लोगों को कहते कि लोभ छोड़ो लोग तो लोग छोड़े हुए थे वो कहते आप भी बातें क्या कर रहे हैं लोभी यहाँ है कौन चालीस साल निरंतर बुद्ध गांव गांव घूम के लोगों को समझाते रहे लोभ छोड़ो ईर्षा छोड़ो महत्वाकांक्षा छोड़ो अहंकार छोड़ो निश्चित ही ये बातें लोगों में रही होंगी अन्यथा ये औषधियां किसको बांटी जा रही थी लोग बीमार रहे होंगे तुम्हारे शास्त्र गवाह हैं कि किस तरह के लोगों के बीच में लिखे गए होंगे जो बीमारी होती है उसकी चिकित्सा का आयोजन करना होता है लोग काम ही रहे होंगे इसलिए तो ब्रह्मचर्य की इतनी प्रशंसा है अगर लोग ब्रह्मचारी ही थे तो ब्रह्मचर्य की प्रशंसा का क्या प्रयोजन था लाउसू ने कहा है अगर लोग धार्मिक हो तो धर्मशास्त्र व्यर्थ ठीक कहा है अगर लोग सचमुच धार्मिक हो तो धर्मशास्त्र की क्या जरूरत या दूसरी तरफ से देखें कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा तो उस वक्त क्यों आए थे धर्म की हानि हो गई होगी सीधी सी बात है जब जब अंधेरा घेरेगा साधु संत सताए जाएंगे तब तब आऊंगा तो उस समय ये घड़ी घट गई होगी अगर तर्क को ठीक से समझे तो जब तुम्हारे घर में कोई बीमार होता तब भी वैद्य को बुलाते जब कोई समाज पतित होता है तो उसे उठाने की चेष्टा होती इतने अवतार इतने तीर्थंकर किस लिए पैदा होते कहीं ना कहीं आदमी गलत रहा होगा तो पहली तो बात यह समझ लेना कि आदमी सदा से ऐसा ही है ये जो हमें भ्रांति पैदा होती है इसके पीछे और भी कारण है सभी को ऐसा ख्याल है कि बचपन बड़ा सुंदर था स्वर्णिम सभी को हालांकि बच्चों से पूछो कोई बच्चा इस बात के लिए राजी नहीं कहने को कि स्वर्णिम काल बचपन बच्चे जल्दी से जल्दी बड़े होना चाहते बच्चा बाप के बगल में कुर्सी पर खड़ा हो जाता और कहता देखो तुमसे बड़े वो उसकी आकांक्षा का सबूत है वो चाहता तुमसे बड़ा हो जाए एक छोटे बच्चे को स्कूल में एक शिक्षक ने मारा तो उसने कुछ भूल चूक की थी मारने के बाद उसे फुसलाया समझाया और कहा बेटा देख ये मैं मारता हूं इसलिए कि तुझे मैं प्रेम करता हूं उस बेटे ने आंख से आंसू पहुंचते हुए कहा कि प्रेम तो मैं भी आपको बहुत करता हूं लेकिन प्रमाण अभी दे नहीं सकता छोटे बच्चों से पूछो वो जल्दी से जल्दी बड़े हो जाना चाहते लेकिन बाद में याद रह जाती है सिर्फ कि बचपन बड़ा सुंदर था कैसा हो सकता है बचपन सुंदर क्योंकि तुम बचपन में बिल्कुल ही परतंत्र थे हर बात के लिए असहाय थे दीन थे और हर बात के लिए तुम्हें किसी का मुंह तकना पड़ता था ऐसी असंत परतंत्र अवस्था ऐसी स्वतंत्रहीन अवस्था कैसे सुंदर हो सकती लेकिन बाद में यही याद रह जाती कि बचपन बड़ा सुंदर था मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसके पीछे एक कारण आदमी का मन जो दुखपूर्ण है उसे भुला देता है क्योंकि दुख को याद रखना कठिन दुख इतना ज्यादा है कि अगर हम दुख को याद रखें तो हम जी ना सकेंगे तो जो दुखपूर्ण है उसे हम हटा देते उसे हम अचेतन में में डाल देते और जो सुखद सुखद है उसकी फूल माला बना लेते जिस जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं जो सुखद है उसको इकट्ठा करते जाते हैं जो सुखद नहीं है उसे छोड़ते चले जाते हैं तो पीछे के संबंध में हम जो भी वक्तव्य देते हैं वो सब गलत होते हैं और यही स्थिति बड़े पैमाने पर समाज के संबंध में सही है हम सोचते हैं कि अतीत में सब सुंदर था सब स्वर्ण युग अतीत में हो चुके ये बात हर हाल में गलत है क्योंकि अगर अतीत इतना सुंदर था तो ये वर्तमान उसी अतीत से पैदा हुआ है ये और भी सुंदर होना चाहिए अगर बचपन इतना सुंदर था तो जवानी उसी बचपन से आई है ये बचपन से ज्यादा सुंदर होनी चाहिए अगर जवानी सुंदर थी तो बुढ़ापा जवानी से आया है बुढ़ापा जवानी से भी ज्यादा सुंदर होना चाहिए और अगर जीवन तुम्हारा सचमुच आह्लाद था तो मृत्यु भी नृत्य होगी उत्सव होगी क्योंकि मृत्यु उसी जीवन का सारा निचोड़ है लेकिन तुम तो देखते हो कि बचपन सुंदर था जवानी से जवानी सुंदर बुढ़ापे से जीवन सुंदर मृत्यु सुंदर कभी नहीं ये तो तुम दुख दुख को छोड़ते जाते हो सुख सुख को चुनते जाते हो सुख तुम्हें मिलता तो नहीं लेकिन जो कुछ भी क्षणभंगुर स्मृतियां रह जाती उन्हीं को तुम सजा संवार कर रख लेते हो तुम आए हो उन्हीं समाज उन्हीं समाजों से जिनको लोग स्वर्ण युग कहते हैं सतयुग कहते हैं ये कलयुग सतयुग से पैदा हुआ है अगर ये कलयुग बुरा है तो कहावत है कि फल से वृक्ष का पता चलता है अगर फल गलत है तो वृक्ष सड़ा हुआ रहा होगा बीज से ही सड़ा हुआ रहा होगा तुम सबूत हो इस बात के कि सारा मनुष्य जाति का अतीत तुमसे बेहतर तो नहीं रहा किसी हालत में नहीं रहा तुमसे शायद बुरा भला रहा हो तुमसे बेहतर तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम उसके फल हो तो पहली तुम्हें तो ये भ्रांति तुम्हारे मन से हटा देना चाहता हूं मैं तुमसे ये भी नहीं कहना चाहता कि तुम श्रेष्ठ हो तुमसे ये भी नहीं कहना चाहता कि तुम निकृष्ट हो तुमसे मैं बहुत सीधा साधा प्रस्ताव करता हूं कि तुम वैसे ही हो जैसे सबसे सदा से मनुष्य रहा है इसलिए ये चिंता विचार छोड़कर इस बात पर ध्यान दो कि कुछ मनुष्यों ने कभी कभी जीवन में क्रांति की है तुम सबकी चिंता भी भूल भूल जाओ तुम तो इतनी ही फिक्र कर लो कि तुम्हारे जीवन में प्रकाश उतर आए तुम्हारा दिया जल जाए तो बस काफी है आप मौजूद हैं तो भी मनुष्य नीचे की ओर नीचे की ओर जा रहा है मैं किसी को नीचे जाते नहीं देखता न किसी को ऊंचे जाते देखता लोग कुल्हू की बैल की तरह घूम रहे वहीं के वहीं घूम रहे आंख पे पट्टियां बनी सोचते कहीं जा रहे कोई कहीं नहीं जा रहा है कभी कभी कोई एकाध व्यक्ति आंख से पट्टियां हटा देता है धारणाओं की सिद्धांतों की धर्मों की राजनीतियों की खोल के देखता है देखता है अरे मैं एक वर्तुल में घूम रहा हूँ कोल्हू का बैग वो निकल पड़ता वर्तुल के बाहर उस वर्तुल के बाहर छलांग लगा लेना ही सन्यास है इस समाज में कभी धर्म आने वाला नहीं है कुछ सन्यासियों के जीवन में धर्म आने वाला है धर्म तो महाक्रांति है और क्रांति व्यक्ति में ही घट सकती समाज में तो ज्यादा से ज्यादा सुधार घटते लिपा पोती चलती मकान वही का वही रहता कहीं पलस्तर गिर गया तो चढ़ा दिया कहीं रंग खराब हो गया तो रंग कर दिया कहीं छप्पर खराब हो गया तो कुछ कपड़े बदल दिए कहीं दीवार गिरने लगी तो सहारे और टेक लगा दी मगर मकान वही का वही रहता है क्रांति तो व्यक्ति में घटती है नितांत रूप से वैयक्तिक है क्रांति तो मैं तो किसी को नीचे ऊंचे जाते नहीं देखता समाज तो वही के वही है पूछा है जबकि बुद्ध पुरुषों के आगमन पर मनुष्यता कोई शिखर छूने लगती मनुष्यता नहीं कुछ मनुष्य कुछ मनुष्यों में छिपी मनुष्यता जरूर छूने लगती लेकिन उस शिखर को न छूने वाले लोगों की संख्या सदा बड़ी होती कभी करोड़ में एक आदमी बुद्धों के साथ उस आनंद की यात्रा पर निकलता है आज तुम्हें लगता है कि बुद्ध के समय में बड़ी क्रांति हुई होगी या महावीर के समय में बड़ी क्रांति हुई होगी लेकिन अगर तुम अनुपात देखो तो तुम चकित हो जाओगे बुद्ध जिस गांव से गुजरते हैं अगर उसमें दस हजार आदमी हैं तो दस भी सुनने को आ जाएं तो बस पर्याप्त और उन दस में भी जो सुनने आ गए हैं उनमें से एक भी सुन ले तो बहुत सुनने आ जाने से थोड़ी कोई सुन लेता है आज तुम्हें लगता है कि बहुत लोग अभी जो मुझे सुन रहे हैं उनकी संख्या नगण्य जो मुझे समझ रहे हैं उनकी और भी नगण्य जो मुझे समझ के अपने जीवन को बदल रहे हैं उनकी और भी नगण्य समय बीत जाने पर यही संख्या बड़ी दिखाई पड़ने लगेगी आज जैनों की संख्या तीस लाख से ज्यादा नहीं अगर महावीर ने तीस आदमियों को बदला हो तो 2000 साल में उनसे तीस लाख की संख्या पैदा हो सकती बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बदला होगा ढाई हजार साल में जैनियों की संख्या तीस लाख है तीस जोड़े इतनी बड़ी संख्या पैदा कर सकते हैं ढाई हजार साल में बहुत थोड़े से लोग पतले होंगे बदलाहट सदा थोड़े से लोगों में आती हाँ उन थोड़े से लोगों में मनुष्यता जो छिपी है वो बड़े ऊंचे शिखर छूने लगती मगर तुम इसकी चिंता न करके इसकी ही चिंता करो कि तुम्हारे भीतर वो शिखर छुआ जा रहा है या नहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुम सबकी चिंता में खुद को बिसार बैठो और वही घटना घट गट सकती सबकी चिंता में तुम तो चूक ही जाओगे और सबको कोई लाभ ना होगा हजारों आंखें आपकी ओर लगी हैं कि शायद आपके द्वारा फिर नवजागरण होगा ये भ्रांतियां छोड़ो किसी के द्वारा कभी कोई नवजागरण न हुआ है न होने वाला है कितने सत्पुरुष हुए तुम ये भ्रांतियां कब तक बांधे रहोगे ये भ्रांतियां तुम्हें भटकाती हैं इनके कारण तुम जो क्रांति कर सकते थे वो नहीं करते तुम बैठ के प्रतीक्षा करते होगा जैसे किसी और का काम है जैसे मेरी जिम्मेवारी जैसे नहीं होगा तो मैं दोषी तब तो तुम सभी बुद्ध पुरुषों को दोषी पाओगे क्योंकि वो नवजागरण अब तक नहीं आया मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं वो कभी नहीं आएगा अंग्रेजी में उस नव जागरण के लिए जो शब्द है ओटोपिया वो बहुत अच्छा है ओटोपिया शब्द का ही अर्थ होता है जो न कभी आया न कभी आएगा वो सिर्फ तुम्हारी आकांक्षा है और नपुंसक आकांक्षा है दूसरे के लिए प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं अब अवतार का जन्म कब होगा तुम क्या कर रहे हो जन्माओ अवतार को अपने भीतर तुम ये उत्तरदायित्व तो क्यों टालते हो किस पे टाल रहे हो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं भगवान सुनता नहीं इतनी आहें उठ रही है भगवान कहाँ है आता क्यों नहीं ये मनुष्य की जालसाजियां ये धारणाएं इनसे एक तरकीब तुम अपने भीतर बना लेते हो कि हमें तो कुछ करना नहीं बैठ के राह देखने जब आएगा तब होगा कोई मसीहा आएगा कोई पैगंबर आएगा कोई अवतार आएगा आ चुके पैगंबर आ चुके मसीहा आ चुके अवतार और नवजागरण नहीं आया तुम कब जागोगे कितने अवतार कितने तीर्थकर आ चुके कहा नवजागरण आया कहा हुई क्रांति नहीं तुम्हारी भ्रांति है किसी दूसरे से होने वाली नहीं है तुम में घटना घटेगी समूह में कभी घटना नहीं घटेगी समूह में जो घटती है वो राजनीति है व्यक्ति में जो घटता है वह धर्म तुम राजनीति को धर्म पर आरोपित मत करो अगर लोग सोना चाहते हैं तो कौन जगाएगा कैसे जगाएगा अगर ज्यादा जगाने वाला गड़बड़ करेगा सोने वाले उसकी हत्या कर देंगे वही तो हुआ जीसस को सूली पर लटका दिया सुकरात को जहर पिला दिया ये लोग जरा ज्यादा शोरगुल मचाने लगे अब जिसको सोना है तुम उठ के और घंटा बजाने लगे सुबह से और कहने लगे प्रभात बेला आ गई जागो पर जिसको सोना है वो कहता है सोना और जागना तो कम से कम मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए वे दूसरा आदमी आके घंटा बजाने लगे कि जागो तो उसे गुस्सा है बिल्कुल स्वाभाविक है और सोने वाले लोग जाता है सोए ही है घंटे बजाने वाले आते हैं और चले जाते हैं और सोने वाले करवट भी नहीं बदलते या बहुत से बहुत करवट बदल लेते फिर सो जाते थोड़े नाराज हो जाते अगर भले हुए तो कहते महाराज नमस्कार आप बड़े महात्मा मगर अभी मुस्लिम को छोड़ो अभी अभी मेरी सुविधा नहीं जागने की जागूंगा जरूर आपकी बात बिल्कुल ठीक लोग कहते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि छोड़ो मेरा पिंड छोड़ो अब कौन विवाद करे सोने वाला विवाद कैसे करे सोने वाला कहता मुझे सोने तो माना कि ब्रह्म मुहूर्त और उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में और कभी हम जरूर उठेंगे और याद रखेंगे तुम्हारी बात और तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे तुम्हारी पूजा भी करेंगे फोटो लटका लेंगे मूर्ति लगा देंगे सदा सदा तुम्हें पूजेंगे मगर अभी छोड़ो अभी मुझे नींद आ रही अभी मैं इसे योग्य नहीं अभी मैं पात्र नहीं अभी घर है गृहस्थी है बच्चे हैं पत्नी है अभी इनको संभालने दो एक दिन तो मोक्ष की तरफ जाना है आप बिल्कुल ठीक कहते इसलिए तुम पूजा करते हो मंदिर बनाते हो तुम्हारे मंदिर और तुम्हारी पूजाएं तुम्हारे बचने की विधियों का अंग है जो दुष्ट है वो झगड़ने को खड़े हो जाते हैं जो सज्जन है वो पूजा करने को मगर जगने को कोई राजी नहीं हमने भारत में सूली नहीं दी सज्जनों का देश है मारपीट झगड़ा झांसे में हम भरोसा नहीं करते अहिंसकों का देश है शाकाहारियों का देश है बड़ा पुरानी हमारी परंपरा हम कहते हैं जिसको हाथ जोड़ के पैर छू के छुटकारा पाया जा उसको सूली पे क्यों लटकाना और सूली पे लटकाने से झंझट ही बढ़ती आखिर सोने वाले आदमी को सूली बनाना पड़े ले जाओ सूली पे लटकाओ पैर छू लिए कि महाराज साष्टांग दंडवत है आप जाएं हमने समझ ली तरकीब तो जो जीसस के साथ यहूदियों ने किया वो हमने बुद्ध के साथ नहीं किया कभी इक्के दुक्के किसी पागल ने पत्थर फेंक दिया लेकिन आमतौर से समाज ने कहा कि आप ईश्वर के अवतार हैं महावीर को हमने थोड़ी बहुत गाली गलौज दी लेकिन कोई जहर नहीं पिला दिया जैसा सुकरात को यूनान में पिला दिया हमने कबीर को कोई मंसूर की तरह काट नहीं डाला जैसा मुसलमानों ने मंसूर को काट दिया सज्जनों का देश है हम तरकीब ज्यादा बेहतर जान गए हम समझते हैं कि जहां सुई से काम हो जाता है वहां तलवार की क्या जरूरत मंदिर में बिठा देते हैं मूर्ति बना देते हैं फूल चढ़ा देंगे शास्त्र बना देते हैं और क्या चाहिए मगर जगाने की कोशिश मत करो समाज कभी भी नहीं जागेगा समाज तो सोई हुई भीड़ है इस भीड़ में से कभी कभी कोई विरला पुरुष जागता है तो तुम ये तो पूछो ही मत ये तो बात ही मत करो मैं तुम्हारी किसी भ्रांति में किसी तरह का सहारा देने को तैयार नहीं मैंने तुमसे कहता कि मेरे द्वारा नव जागरण आएगा सारी दुनिया में क्रांति हो जाएगी राम राज्य स्थापित हो जाएगा हो चुकी ये पागलपन की बातें बहुत राम से नहीं हुआ है राम राज्य स्थापित तो किसी दूसरे से कैसे हो जाएगा कृष्ण से नहीं हुआ हार गए सिर पटक पटक के बुद्ध से नहीं हुआ तो मुझसे कैसे हो जाएगा नहीं बुद्ध और कृष्ण और राम ने वैसी भ्रांति पाली नहीं वो भ्रांति तुम पाले हुए हो बुद्ध तो बार बार कहते हैं कि अपने दिए बनो मेरे द्वारा कुछ भी ना होगा महावीर बार बार कहते अपनी शरण जाओ मेरी शरण आने से क्या होगा महावीर ने तो बहुत साफ कहा है कि मैं स्वयं जागा हूं मैं तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं आया हूं यद्यपि जैन अभी भी कहे जाते हैं कि जगत के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ महावीर कहते मैं तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं आया क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण कैसे करेगा और अगर दूसरा तुम्हारा कल्याण कर सके तो वो कल्याण भी दो कौड़ी का होगा उसमें तुम्हारा विकास फलित नहीं होगा तुम्हारी आंतरिक उत्क्रांति घटित नहीं होगी वो उधार होगा बासा होगा तो महावीर कहते हैं अपनी शरण जाओ समझो अपने को जगाओ धर्म का जगत कब निर्मित होगा झूठे सपने मत देखो जगत अधर्म का रहेगा इसमें कभी कभी धार्मिक व्यक्ति जगते रहेंगे ये रात तो अंधेरी रहेगी इसमें कभी कभी कोई तारे जगमगाते रहेंगे अब तुम ये प्रतीक्षा मत करो कि कब पूरी रात बदलेगी तुम तो इसकी फिक्र करो कि मैं जगमगाने लगा या नहीं तुम जगमगा गए तुम्हारे लिए रात समाप्त हो गई तुम जिस दिन जगमगाए तुम्हारी सुबह हो गई इसे मैं बार बार दोहराना चाहता हूं कि ये क्रांति व्यक्ति के अंतस्थल में घटती है ये बड़ी आंतरिक है आत्यंतिक रूप से निजी है समूह भीड़ से इसका कुछ नाता नहीं पूछा है क्योंकि बदलना तो दूर कब होगा विस्फोट कैसे होगा बदलना तो दूर उल्टे लोग आपका विरोध कर रहे हैं वो सदा से करते रहे कुछ नया नहीं उसमें वो विरोध न करे तो आश्चर्य होगा विरोध उन्हें करना ही चाहिए वो उनकी पुरानी आदत है जैन शास्त्र में उल्लेख है एक मुनि नदी में स्नान करने उतरा एक बिच्छू को उसने तैरते देखा डुबकी खाते कि मर ना जाए तो उसने हाथ पे चढ़ा के उसे घाट पर रख देना चाहा लेकिन जब तक उसने घाट पर रखा उसने दो तीन डंक मार दिए और जैसा कि तुमने देखा होगा चींटे को अगर हटाने की कोशिश करो तो जिस दिशा से हटाओ वो उसी दिशा की तरफ भागता है बड़ी जिद्दी होती है जितनी ना समझ उतनी ही जिद तो बिच्छू तो बिच्छू उसको छोड़ा तो वो फिर भागा पानी की तरफ उस मुनि ने फिर उसे उठाया और फिर किनारे पर रखा फिर उसने दो तीन डंक मार दिए एक मछुआ राह के किनारे खड़ा है वो कहने लगा कि महाराज वो आपको डंक मारे जा रहा है छोड़ो भी मरने भी दो वो मुन्नी हंसने लगा उसने कहा कि वो अपनी आदत नहीं छोड़ता मैं अपनी आदत छोड़ दू देखिए कौन जीतता है बिच्छू है तो ये तो मान के चलना चाहिए कि वो डंक मारेगा इसमें कुछ नया तो नहीं कर रहा न मारे डंक और अचानक कहे कि धन्यवाद तो घबराहट होगी तो भरोसा ना आएगा जब भी कोई सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश करेगा तो वो डंक मारेंगे तो वो नाराज होंगे उनकी बात मेरी समझ में आती है मैं उसमें कुछ ऐतराज भी नहीं करता मुझे बिल्कुल समझ में आता है सोए हुए को जगाओ तो नाराजगी होती ये भी हो सकता है कि तुमसे कहते सोया हो कि सुबह चार बजे उठा देना मुझे ट्रेन पकड़नी लेकिन उसको भी चार बजे उठाओ तो वो भी गुस्सा दिखलाता है वो भी तुम्हें दुश्मन की तरह देखता है अरे कहा था ठीक है मगर इसका मतलब थोड़ी भी जगह नहीं लगो अब कह दिया भूल हो गई मगर अब पीछे तो ना पड़ो रुग्ण आदमी को दबा दो तो भी वो पीने में आनाकानी करता बच्चे जैसे हैं लोग ना समझ उनकी तरफ से विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है अगर इस विरोध का तुम मनोविज्ञान समझो तो बड़े चकित होगे वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें बात जचने लगी कि बात में कुछ सच्चाई है नहीं तो वो विरोध भी नहीं करते उन्हें डर लगने लगा कि ये आदमी कहीं जगह ही ना दे उनके विरोध की केवल इतनी ही सार्थकता है कि वो संकित हो गए हैं कि अगर इस आदमी को सुना इसकी बात को जरा गौर से सुना विरोध का धुआं खड़ा ना किया अपनी आंखें विरोध से न भर ली तो कहीं ये बात समझ में ना आ जाए कहीं ये बात हृदय में ना उतर जाए कहीं ये बीज आत्मा में पड़ ना जाए उनका विरोध सांकेतिक है वे कह रहे हैं कि अब या तो हमें विरोध करना पड़ेगा या साथ चलना पड़ेगा अब दो ही उपाय छोड़े इसलिए सदा उन्होंने विरोध किया है उनके विरोध की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं मैं उसे स्वीकार करता हूं बिल्कुल स्वाभाविक है वे जिस दिन विरोध ना करेंगे उस दिन समझना कि उनका अब बुद्धत्व में कोई रस नहीं रहा वो बड़े दुर्दिन होंगे जब बुद्ध पुरुष आएगा और लोग बिल्कुल विरोध ना करेंगे लोग कहेंगे मजे से आपको जो कहना कहो जो करना है करो हमारा मनोरंजन होता है आप बड़े मजे से कहो लोग ताली बजाएंगे और अपने घर चले जाएंगे कोई विरोध ना करेगा उस दिन कठिनाई होगी ध्यान रखना विरोध का मतलब ही है लगाव शुरू हो गया घृणा प्रेम का रूप है जो आदमी घृणा करने लगा अब ज्यादा देर नहीं वो प्रेम भी कर सकेगा उपेक्षा खतरनाक है बुद्ध पुरुष आए और लोग उनकी उपेक्षा कर दें वो राह से निकले ना कोई विरोध करे ना कोई प्रेम करे लोग कहें ठीक आपकी मर्जी आपको जैसा दिल आप कहें जो आपको रहना है आप रहें हमें कोई ऐतराज नहीं जरा सोचो उस स्थिति की बात कि कोई विरोध ना करे कोई पक्ष में नहीं कोई विपक्ष में नहीं बुद्ध आए कहें और चले जाएं कोई लकीर ही ना छूटे किसी पर तो दुर्दिन होगा तो उसका अर्थ हुआ कि अब बुद्धत्व में इतना भी रस नहीं रहा लोगों का अब कोई विरोध भी नहीं करता है विरोध तो रागात्मक है एक यहूदी हसीद फकीर ने किताब लिखी थी किताब बड़ी बगावती थी हसीद बड़े बगावती फकीर और उसने अपने देश के सबसे बड़े यहूदी धर्मगुरु को वो किताब भेजी खुद अपनी पत्नी के हाथ भेजी और उसने कहा कि कुछ फिक्र ना करना जो भी हो तो उसमें उलझना मत सिर्फ देखते रहना क्या हो रहा सब मुझे आके वैसा का वैसा बता देना वो गई जैसे ही किताब उसने दी पंडित के हाथ में उसने किताब उलट के देखी देखा कि हसीद फकीर की है वो तो ऐसा तिल मिला गया कि जैसे हाथ में अंगारा रख दिया हो उसने तो किताब उठा के बाहर फेंक दी अपने मकान की उसने कहा कि मेरे हाथ अपवित्र हो गए मुझे स्नान करना पड़ेगा वो तो आग बबूला हो गया उसके पास ही एक दूसरा पुरोहित बैठा था एक दूसरा धर्मगुरु उसने कहा कि माना कि वो बगावती है मगर उसने किताब भेंट भेजी तुम थोड़ी देर बाद फेंक देते ये पत्नी को तो चले जाने देते उसने भेजी तो उसने तो प्रेम से भेजी उपहार दिया इस पत्नी को चले जाने देते फिर फेंक देते इतनी जल्दी क्या थी और तुम्हारे घर में इतनी किताबें हैं इतनी बड़ी लाइब्रेरी है उसमें वो एक किताब पढ़ी भी रहती तो क्या बिगाड़ती थी पत्नी वापस लौटी पति ने पूछा क्या हुआ उसने कहा कि प्रधान पुरोहित ने तो किताब एकदम बाहर फेंक दी वो तो ऐसे नाराज हो गए कि मुझ पर हमला ना कर दे उन्होंने तो ऐसा जिससे कि हाथ में मैंने अंगारा रख दिया हो मगर उसके पास ही एक दूसरे धर्मगुरु बैठे थे उन्होंने कहा कि नहीं ये करना उचित नहीं है पत्नी को चले जाने देते फिर फेंक देते या फिर रखी रहती किताब इतनी किताबें पढ़ी तुम्हारे घर में विरोधियों की किताबें भी रखी तो ये तो यहूदी है माना की बगावती है रख लेते पड़ी रहती लाइब्रेरी में क्या बिगड़ता था पति ने कहा जिसने किताब फेंकी उसे तो हम किसी न किसी दिन बदल लेंगे लेकिन दूसरे से हमारा कोई संबंध नहीं बन सकता समझे आप मतलब जिसने किताब फेंकी उससे तो रागात्मक संबंध बन गया वो कम से कम इतना तो राग है उसका जोश तो आया उसने कुछ किया तो तरंग तो उठी